श्री भगवान बोले वर्ण एवं आश्रम धर्म का पालन करने वाले व्यक्तियों को चाहिए कि वे ज्ञान एवं भक्ति योग के द्वारा भगवान महेश्वर की पूजा करें अन्य साधन से नहीं मोक्षार्थ को चाहिए कि वह उस परम तत्व विभूति एवं कार्य कारण रूप को ठीक-ठीक जानकर साथ ही मेरी प्रवृत्ति को समझकर ईश्वर की उपासना करें सभी प्रकार की आसक्तियों का सर्वथा परित्याग कर इस संसार को माया रूप जानकर अपने में अद्वैत की भावना करे ऐसा करने से इंद्रद्युम्न तुम परमेश्वर का दर्शन करोगे ब्रह्मन इंद्रद्युम्न तीन प्रकार की भावनाएं कही गई हैं उन्हें मैं बताता हूं तुम सुनो उन तीनों में से पहली भावना है मद्दिशया अर्थात मेरे सगुण स्वरूप की भावना दूसरी है व्यक्त संश्रया अर्थात भगवान का जो विराट स्वरूप है उसका आश्रय ग्रहण कर उपासना की भावना और तीसरी जो भावना है उसे ब्राह्मी अर्थात ब्रह्म ज्ञान विषय भावना जानना चाहिए यह तीसरी भावना गुणातीत है गुणातीत रूप में ब्रह्म की उपासना ही ब्राह्मी भावना है विद्वान व्यक्ति को चाहिए कि इन तीनों में से किसी भी भावना का आश्रय ग्रहण कर उपासना करे जो असमर्थ व्यक्ति है उसे चाहिए कि वह प्रथम भावना अर्थात वैष्णवी भावना का अवलंबन ग्रहण करे ऐसा वेद का मत है इसलिए इंद्रद्युम्न तुम समस्त प्रयत्नों के द्वारा संपूर्ण संसार के स्वामी भगवान विष्णु की आराधना करो उनमें ही निष्ठा रखो और उन्हीं का आश्रय ग्रहण कर उन्हीं के शरणागत हो जाओ इससे तुम मोक्ष प्राप्त करोगे इंद्रद्युम्न बोले हे जनार्दन वह परात्पर तत्व क्या है विभूति क्या है कार्य क्या है और कारण क्या है आप कौन हैं और आपकी प्रवृत्ति क्या है श्री भगवान बोले वह पर से परतर तत्व एकमात्र अखंड परब्रह्म ही है वह नित्य आनंद स्वरूप है स्वयं प्रकाशमान है अविनाशी है और तम अंधकार से सर्वथा परे है उस परमात्मा का जो नित्य रहने वाला ऐश्वर्य है वही विभूति नाम से कहा जाता है यह संसार ही परमात्मा का कार्य रूप है और अविनाशी विशुद्ध अव्यक्त तत्व ही इस संसार का कारण रूप है मैं ही समस्त प्राणियों में रहने वाला अंतर्यामी ईश्वर हूँ सृष्टि पालन और संहार ही मेरी प्रवृत्ति कही जाती है हे द्विज इन सभी बातों को यथार्थ रूप से जानकर तुम कर्म योग के द्वारा श्रद्धा भाव से उस सनातन ईश्वर की भली भांति अर्चना करो इंद्रद्युम्न ने कहा भगवन वर्णों तथा आश्रमों के वे कौन से पालनीय नियम हैं जिनसे उस पर तत्व की आराधना की जाती है और वह दिव्य ज्ञान कैसा है जो तीन भावनाओं से युक्त है परमात्मा ने पूर्व काल में इस संसार की सृष्टि कैसे की और फिर कैसे इसका संहार होता है लोक में कितनी सृष्टियां हैं कितने वंश हैं कितने मनवंतर हैं उनके कितने प्रमाण हैं और पवित्र व्रत तथा तीर्थ कौन से हैं सूर्य आदि ग्रहों की स्थिति कैसी है पृथ्वी की लंबाई चौड़ाई कितनी है कितने द्वीप समुद्र पर्वत हैं और कितने नद हैं और कितनी नदियां हैं हे पुंडरीकाक्ष इस समय यह सब मुझे यथार्थ रूप से बताइए श्री कुर्म ने कहा हे श्रेष्ठ मुनियों उस इंद्रदम्न के द्वारा मुझसे इस प्रकार कहे जाने पर भक्तों पर अनुकंपा करने की कामना से मैंने वे सभी बातें विस्तार से ठीक-ठीक उससे बतला दी इस प्रकार उस ब्राह्मण इंद्रद्युम्न ने जो जो भी मुझसे पूछा था वह सब विस्तार से बतलाकर और उस पर कृपा करके मैं वहीं अंतर्ध्यान हो गया उस श्रेष्ठ ब्राह्मण ने भी मेरे द्वारा बताए गए विधान से अत्यंत पवित्र भावना से समाहित चित्त होकर परम तत्व की उपासना की उसने अपनी स्त्री पुत्र आदि का मोह छोड़ दिया सुख दुख आदि द्वंद्वों से रहित हो गया किसी भी वस्तु का संग्रह करना सर्वथा त्याग कर अपरिग्राही हो गया और सभी कर्मों का परित्याग कर उसने परम वैराग्य का आश्रय ग्रहण किया अपनी आत्मा में ही परमात्मा का दर्शन करके और अपनी आत्मा में ही संपूर्ण विश्व का अनुभव कर अक्षर तत्व संबंधी अंतिम ब्राह्मी भावना को प्राप्त किया जिसके कारण उसे उस दुर्लभ परम योग की प्राप्ति हुई इस योग से ही उस अद्वितीय तत्व का साक्षात्कार होता है जिसकी अभिलाषा निद्रा त्यागी जयी मोक्षार्थी पुरुष भी करते हैं इसके बाद किसी दिन वह ब्राह्मण श्रेष्ठ योगिंद्र इंद्रद्युम्न भगवान सूर्य के निर्देश से अव्यय ब्रह्म का दर्शन करने के लिए अपनी योग सिद्ध के प्रभाव से प्रादुर्भूत सूर्य के समान प्रकाशमान श्रेष्ठ विमान में चढ़कर आकाश मार्ग से मान सरोवर के उत्तर में स्थित पर्वत पर गया उस योगी राज इंद्रद्युम्न को आकाश मार्ग में जाते हुए देखकर देवों गंधर्वों तथा अप्सराओं का समूह भी उसके पीछे-पीछे गया और अन्य सिद्ध तथा ब्रह्मर्षियों ने भी उसका अनुसरण किया तदंतर वहां जाकर इंद्रद्युम्न ने देवताओं द्वारा वंदित तथा योगियों द्वारा सेवित पर्वत के उस स्थान पर प्रवेश किया जहां परम पुरुष परमात्मा प्रतिष्ठित रहते हैं दस हजार सूर्यों के प्रकाश के समान प्रकाशित उस श्रेष्ठ स्थान पर पहुंचकर इंद्रद्युम्न ने देवताओं के लिए भी दुष्प्राप्य उस स्थान के अंतर्गृह में प्रवेश किया वहां पहुंचकर उसने सभी प्राणियों के परम शरणदाता आदि अंत से रहित देवाधिदेव पितामह ब्रह्मदेव का ध्यान किया इसके बाद उसके ध्यान करते ही वहां परमात्मा का प्रकाश प्रादुर्भूत हुआ इंद्रद्युम्न ने उस प्रकाश पुंज के मध्य में महान तेज की राशि के रूप में ब्रह्म विदेशियों के लिए अगम में परम पद स्वरूप पूर्व पुरुष का दर्शन किया जो चार मुख वाले थे जिनके सभी अंग शुभ लक्षणों से संपन्न थे और प्रकाश की किरणों से सुशोभित थे समीप में आए प्रणाम करते हुए योगी इंद्रद्युम्न को देखकर वह विश्वात्मा ब्रह्मदेव स्वयं भी उसके समीप में गए और उसको अपने हृदय से लगाया ब्रह्मदेव के द्वारा आलिंगन करते ही उस ब्राह्मण श्रेष्ठ इंद्रद्युम्न के शरीर से एक महान प्रकाश निकला जो आदित्य मंडल में प्रविष्ट हो गया वह पवित्र निर्मल पद आदित्य मंडल ऋक यजु एवं साम नाम वाला है जिस स्थान में हव्य देवताओं को प्राप्त होने वाला हवनीय द्रव्य तथा कव्य पितरों को प्राप्त कराया जाने वाला श्राद्धीय पदार्थ का उपभोग करने वाले भगवान हिरण्य गर्भ निवास करते हैं वह स्थान वेदांत में प्रतिपादित योगी जनों का आद्य प्रवेश द्वार है ब्रह्म तेज से संपन्न है श्रीयुक्त है और वह मनीषियों की निष्ठा भी है भगवान ब्रह्मा के देखते ही देखते वह मुनि इंद्रद्युम्न तेज से संपन्न हो गया और उसने सर्वत्र व्याप्त परम कल्याणकारी अत्यंत शांत स्वात्म स्वरूप अक्षर व्योम उस परमेश्वर संबंधी तेज को देखा वह विष्णु का परम पद है केवल आनंद रूप अचल वह ब्रह्म का स्थान परमेश्वर रूप है सभी प्राणियों को अपनी ही आत्मा समझने वाला वह योगी इंद्रद्युम्न परम ऐश्वर्य में प्रतिष्ठित हो गया और उसने मोक्ष पद से कहे जाने वाले उस अव्यय परमात्म धाम को प्राप्त कर लिया इसलिए सभी प्रयत्नों से वर्ण एवं आश्रमों के नियमों का पालन करते हुए अंतिम भाव का आश्रय ग्रहण कर विद्वान व्यक्ति को चाहिए कि वह लक्ष्मी रूप माया से पार उतरे सूत जी बोले हरि के द्वारा इस प्रकार कहने पर इंद्र सहित नारद आदि सभी महर्षियों ने गरुड़ध्वज भगवान विष्णु से पूछा ऋषियों ने कहा हे देवाधिदेव हे ऋषिकेश हे नाथ हे अमल रूप नारायण जो आपने पूर्व काल में ब्राह्मण इंद्र दुम से धर्मादि संबंधी ज्ञान कहा था वह सब आप हमें बतलाइए हे जगन्मूर्ति ये आपके सखा इंद्र भी सुनने के लिए इच्छुक हैं इसके बाद सूत जी ने कहा रसातल में स्थित कुर्म रूपी जनार्दन भगवान विष्णुदेव ने नारदादि महर्षियों के द्वारा इस प्रकार पूछे जाने पर जिस श्रेष्ठ संपूर्ण कुर्म पुराण को देवराज इंद्र के समीप सुनाया था मैं उसे आप लोगों को सुनाता हूँ हे ब्राह्मणों इस कूर्म पुराण का सुनना मनुष्यों के लिए यश की प्राप्ति कराने वाला दीर्घ आयु प्रदान कराने वाला पुण्य प्रदान कराने वाला कृतकृत्य कराने वाला तथा मोक्ष प्रदान कराने वाला है इस पुराण के वाचन करने की तो और भी विशेष महिमा है इसके मात्र एक अध्याय के सुनने से ही सभी प्रकार के पापों से व्यक्ति मुक्त हो जाता है अधिक क्या कहा जाए केवल एक उपाख्यान के श्रवण मात्र से ब्रह्मलोक में प्रतिष्ठा प्राप्त होती है इस श्रेष्ठ कुर्म पुराण को कुर्म रूपधारी देवाधिदेव स्वयं भगवान विष्णु ने कहा है द्विजातियों को इस पर अवश्य श्रद्धा रखनी चाहिए इति श्री कर्म पुराणे खट सहस्रायाम संहितायाम पूर्व विभागे प्रथमोध्याय इस प्रकार 6000 श्लोकों वाली कूर्म पुराण संहिता के पूर्व विभाग में पहला अध्याय समाप्त हुआ